और तुम उन जैसे ना बन जाओ जो अल्लाह ताला को भूल गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी जानें भुला दी यही लोग नाफरमान हैं